तो हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि हनुमान चालीसा का श्री गणेश होता है जहां पर गोस्वामी जी बोलते हैं प्रेम से हनुमान जी का प्रारंभ में ध्यान करिए और वो भी स्मरण करना चाहिए बहुत ही विनम्रता से बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरों पर सदैव प्रार्थना बहुत विनम्रता से होनी चाहिए हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जहां जहां आदमी के जीवन में कोई अभिमान आता है भगवान के आक्रोश का विषय बन जाता है रावण के अंदर अभिमान आ गया देखो कैसी दुर्गति हुई पूरा कुल खत्म कर दिया राज्य खत्म कर दिया जीवन का सत्यानाश कर दिया धन दौलत ऐश्वर्य नाम सब कुछ था बस ये किस्मत का खेल नहीं होता ये ध्यान रखो भैया किस्मत से मनुष्य नहीं चलता है नहीं तो मनुष्य के जीवन में सत्संग का ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है योग वशिष्ठ में राम जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछते महाराज जी कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ किस्मत से चलता है आप प्रभु हमको बताइए कि हमारे जीवन में कुछ करने की स्वतंत्रता है कि नहीं है कि सब लिखा लिखाया है अगर लिखा लिखाया है तो हमको कोई सत्संग का जरूरत नहीं है कोई साधना की जरूरत नहीं है कोई तीर्थ की जरूरत नहीं है सभी आपके जीवन में लिखा है करो ना करो मिलेगा ही है तुमको इसीलिए योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज हमको ये बताते हैं वो पढ़ने चाहिए प्रसंग विस्तार से बताते हैं कि किस्मत उसको कहते हैं भैया जहां पे आप खुद पूर्व कर्म के अवश्यम भावी फल को भोगने के लिए प्रवृत्त होते हैं अगर कोई आपके और देवता लोग लिख देते हैं तो फिर वो राग द्वेष का कारण बनेंगे यहां पे जो लोग इतनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं पीड़ा को प्राप्त होते हैं उन सब चीजों का कारण ईश्वर हो जाएंगे कोई ना कोई देवता हो जाएंगे तो ये सोच भी जो है बड़ी विकृत होती है कि कहीं पर आदमी सोचता है सब कुछ लिखा हुआ है उस व्यक्ति ने सत्संग नहीं करा है उस व्यक्ति ने शास्त्रों का ज्ञान नहीं करा सिर्फ भैया तुम भजन कर क्या रहे हो क्या करना है तुमको जो लिख दिया है वो तो बदलेगा ही नहीं ना हम्म? हम लोग के समय आजकल ज्योतिष का भी दुरुपयोग होता है जहां पे कुछ लोग पहले से बता देते हैं ये एक परंपरा है हम लोग इतना महान देश है वैचारिक स्वतंत्रता थी यहां पर किसी ने ये प्रस्ताव रखा कि हाँ भैया लिखा हुआ है ठीक है उसने अपने अपने विचार रखे उनकी परंपराएं चलती हैं लेकिन यहां विचार की चीज यह है क्या यही सब चीजें किस्मत लिखी हुई है यही हमारे भगवान राम बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं वेद बोलते हैं महादेव जी बोलते हैं कि कोई और बाबा बोलते हैं आजकल दूसरे बाबाओं से बच के रहो भाई बाबा रे बाबा हाँ ऐसे बाबा लोगों ने नाक में दम कर रखा है कि लोग आजकल बाबाओं से डरने लगे हैं हाँ। तो इस प्रकार से अप्रामाणिक बातें निराधार बातें एक सिद्धांत बना लो जो भी कोई चीज कहता है विनम्रता से पूछने का साहस रखो महाराज जी इसका कहा रामायण में गीता में वेदों में प्रमाण है हमको वो दीजिए प्रमाण पूर्वक जीवन जीना ही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है और यह प्रमाण नहीं है कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें यह कहा जाता है कि हमारे पूर्व कर्मों के वजह से वर्तमान हमको परिस्थिति प्राप्त होती है और भविष्य के आप निर्माता बन सकते हैं कि जो भी आपको वर्तमान में प्राप्त है उसको आप बदल सकते हैं ये संदेश ये ज्ञान ये आपका सामर्थ्य इस चीज का परिचय देते हैं हाँ कहीं पे कुछ पुराना कर्म गड़बड़ होगा तो फल मिलेगा वो कुछ उसको कोई नहीं बदल सकता है पूजा पाठ से भी नहीं बदला जाता है पूजा पाठ से एक चीज बहुत बड़ी फर्क होती है और वो ये होता है कि अनेकों प्रकार की मुसीबतों का सामना करने के लिए हम बलवान बन जाते हैं समर्थ बन जाते हैं विनम्र बन जाते हैं इसीलिए पूजा पाठ तो जरूर करनी चाहिए मनुष्य को लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पूजा पाठ से हम अपनी पुरानी किस्मत बदल लेते हैं अरे रात को रगड़ के खा लिया तो सवेरे पेट में दर्द हो गई फिर ये बोलो नहीं भगवान लड्डू चढ़ाए देते हैं गैस खत्म हो जाए बोलते हैं गैस भी खत्म होगी अगर तुम है? हाँ, पहली बात तो कोई रामबाण चूरण लो थोड़ा बहुत उसका दुष्प्रभाव कम हो और अगली बार से इतना मत खा लिया करो जहां पे भंडारा क्या तुमको दे दिया तो ऐसे रगड़ के खाए गए यार जैसे कि खाए भी कभी कर हाँ, आजकल का भोजन जो है ना भैया उसको बोलते हैं गिद्ध भोजन जो बूफे होता है ना उसको बोलते हैं गिद्ध भोजन ये हम लोग की परंपरा ही नहीं है हम लोग की परंपरा थी पंगत में प्रेम से बैठाओ सबको मनोहार करके खिलाओ अरे भैया थोड़ा और खा लियो थोड़ा और खा लियो हाँ? हमको तो एक सज्जन यहाँ पे मिले थे इंदौर के बड़े पुराने वरिष्ठ सज्जन थे बोलते महाराज जी हम लोग के वहां तो मालवा में यही परंपरा है खूब जो है वहां आग्रह करके खिलाते हैं हम्म। तो उन्होंने बढ़िया संस्कृत का श्लोक दिया था हमको बोलते महाराज ये हमारी परंपरा है कि अगर कोई जो है वह मना करे बोलते नहीं भाई खा लो एक बार बार मना करे तो भी उसको आग्रह करो खा लो खा लो बोलते हे हे हे हे हे हे बोलते ही ही दद्यार हो हो दद्यार हो हूं हूं होते खाने की गुंजाइश है नहीं अभी तो अभी नहीं खाना है ऐसा तो है, अच्छा देने वाला है बोलते तब तक देते जाओ न दद्यात सिंह गर्जनात जिस समय वो सिंह की गर्जना करे मत जो यार बस हो गया तब बंद कर ये हमारा मालवे की परंपरा है महाराज अरे आग्रह करो यार खिलाओ अच्छी तरह से प्रेम से हम्म? यहाँ के एक सज्जन चले गए बम्बई खाने शादी में वहां उन्होंने जो है अपनी पुरानी आदत वशात दो रोटी पहले मना कर दिया नहीं भैया बस हो गया उसको पता था रोटी खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाई जाता है पर अच्छा नहीं खाना है अच्छा मत खाओ वो बोला महाराज जी क्या बंबई में फंसे शादी के भंडारे के खाने के बाद बाजार में जाके होटल ढूंढा पेट भरा तब जाके ये है आपकी बम्बई यार हमारे वहां का जो गांव हमारा शहर ये बहुत बढ़िया है प्रेम से लोग को भोजन कराते हैं खिलाते हैं हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए सब चीजें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खा लिया तो पेट खराब होगा अभी आपकी किस्मत थी क्या तुम्हारी किस्मत थी क्या मेरे दस्त लगे तुमको हमारे साथ एक सज्जन गए तीरथ के ऋषिकेश में हमारा शिविर चल रहा था तो वहां कोई करीब 25-50 लोग हो गए थे बोला चलो हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके वो सज्जन पहली बार आए थे उनको कुछ हमारे आश्रम और तीरथ का बहुत पता नहीं था तो वहां पे जहां कोई छोटा स्टेशन आता था वो गायब हो जाते थे और पांच मिनट बाद आते थे गुरु जी गरम गरम उतर रहे कचौड़ियाँ उतर समोसे उतर रहे जलेबी उतर रही मैंने बोला यार इसका R and D research department इतना बढ़िया है कि उतरे कि नहीं उनको उस नए गांव का उस शहर का सब होटल और कहा क्या उतर रहा है गर्म उतर रहा है कि बाकी पहली एफआईआर दर्ज कराई जाती थी हमारे फटाफट और हुआ क्या कि हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे रुद्रप्रयाग पहुंचे बोलते मुझे पेट में दर्द हो रहा है <laughs> और दस्त लग गए उनको वहां पे नर्सिंग होम ढूंढा उनको भर्ती कराया बोला प्रभु ये रास्ता देखना हम दर्शन करके आएंगे तुम्हारे लिए भी प्रसाद लाएंगे कोई हमारी यात्रा तुम्हारे लिए रुकेगी नहीं तुम्हारे ऐसे उल्टे सीधे कर्म है वो फल भोग रहे हो अरे महाराज जी किस्मत में लिखा होता है एक दिन हमको भगवान ने माता ने बुलाया और माता ने नहीं बुलाया अच्छा तो माता ने बोला था कचौड़ी रगड़ के खाओ है माता ने बोला था कहीं पर भी जाओ और अच्छी तरह से कुछ भी स्वच्छंद होके काम करो उस समय कहा माता जी गई माता जी को छोड़ो यहां गुरु जी साक्षात बैठे हो उनकी बात मान नहीं रहे हो किस्मत में लिखा अरे किस्मत अपने हाथों से बनती है जो चाहो यहां पे जीवन में किस्मत बनाओ ये हमारे शास्त्र बोलते हैं ये आपके ऋषि लोग बोलते हैं कि जो भी आपके भविष्य हैं उसके निर्माता बन सकते हो ये कर्म का सामर्थ्य होता है मत उसको आंखों थोड़ा सा और अपना जीवन भी खराब करो और अपने बच्चों का भी खराब करो सब किस्मत में लिखा हुआ है आलसी आदमी बना देता है जहां पर किसी को ज्यादा किस्मत के ऊपर आश्रय कराया जाता है जो भी आज आपकी किस्मत है आपके पुराने कर्मों का वो फल है जानते थे नहीं जानते थे कुछ कर बैठे ठीक है है तो संकल्प करो प्रार्थना करो जैसा चाहो निर्माण करो इसीलिए शास्त्र का महत्व है इसीलिए हमको जो है अपने संकल्प का महत्व है प्रार्थना का महत्व है और सत्कर्म का महत्व होता है जैसा कर्म चाहो भविष्य का निर्माण करो तो कभी ये मत सोचना कि सब लिखा लिखा है आप सत्संकल्प करिए सवेरे सवेरे उठ के सुंदर ध्यान करो चिंतन करो प्रार्थना करो कि भगवान हमको ऐसा जीवन चाहिए देखो भगवान ने हम लोगों को एक सपने की अवस्था दी हुई है स्वप्न की अवस्था होती है कि सुंदर सपना देखना सीखना चाहिए इंसान आप जो सपना देखेंगे जीवन में वो ही केवल चरितार्थ हुआ करता है ये सपने की महिमा है अगर कोई आदमी बहुत ही ज्ञानी बना है कोई भक्त बना है उसके दिल में ये सपने आते थे वो ये संकल्प करता था कि भगवान अगर ऐसा हमको सत्संग मिले ऐसा भगवान का भजन करें ऐसा आपका दर्शन हो जाए संकल्प उसके दिल में झांक के देखो जिसके अंदर ऐसे संकल्प आते थे उसको ये सत्संग मिल जाता है भगवान बोलते हैं ठीक है ये यथा माम प्रपद्यंते ताम तथैव भजाम्य हम गीता का वचन है तुम संकल्प करो चाहो प्रार्थना करके देखो सच्चाई से करना डटे रहना एक किताब हम पढ़ते थे हम कॉलेज में थे तो हमको कहीं पे लाइब्रेरी में दिखाई पड़ गई उसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच हमने बोला बड़ी बढ़िया किताब है थिंक एंड ग्रो रिच सोचो और अमीर बन जाओ तो यार फटाफट हमने लाइब्रेरियन से किताब इशू करवाई और बाकायदा रात भर उसका जाग जगराता करते हुए अध्ययन करा कि रहस्य क्या है भाई थिंक एंड ग्रो रिच सोचो और अमीर बन जाओ उसको पूरा पढ़ के देखा उसका रहस्य केवल इतना लिखा था कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और डटे रहो उसमें हार मत मानना जिद करना दृढ़ता रखो अगर तुम मन के अंदर संकल्प करोगे दृढ़ता रखोगे तो वो कार्य होना ही पड़ता है ये जीवन की सच्चाई है हाँ उतार चढ़ाव आएंगे जरूर लेकिन अपना आशय महान रखो संकल्प स्पष्ट रखो वो निश्चित रूप से पूरा हुआ करता है एक मांडू के उपनिषद करके ग्रंथ है उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो है कहानी आती है टिटिहरी की टिटिहरी की कहानी बड़ी मजेदार है वो महाराज जी वहां समझा रहे थे कि देखो आदमी के अंदर दृढ़ शक्ति दृढ़ व्रता हाँ, दृढ़ निश्चय हो और उसमें डटे रहना चाहिए फिर देवता लोग भी कृपा करते हैं उस कहानी का सारा अंश है एक टिटीरी थी छोटा सा पक्षी होता है टिटी टिटी टी करता है वो पानी वानी के पास झील में और जहां पे थोड़ा खेती खुला होता है ना घास वास वहां पे अंडे देती है वो घोसला बना लेती है तो कहीं रेती के पास उसने समुद्र के तट पे कोई अंडे दिए थे अब एक लहर आई और उसके अंडे बहा ले गई अब टिटीरी को बड़ा गुस्सा आया अब गई समुद्र के पास दोनों पंखों के बीच में हाथ वाथ रख के बोला ये क्या मजाक है हमने क्या बिगाड़ा है आपका हमारे अंडे क्यों ले जाए गए यहां से एक गलत काम करा है चलो हो जाता है गलत काम लेकिन गलत काम हो गया है तो आप उसको जो है ठीक करो और हमारे अंडे कायदे से वापस लो अब आप दृश्य सोचो कि वहां पे समुद्र अनंत सागर और किनारे टिटीरी खड़ी हुई कमर पे हाथ रख के बोल रही हमारे अंडे वापस लो समुद्र देवता की पूजन हमारे राम जी ने भी करी थी है? और इन्होंने भी समुद्र देवता को अच्छी तरह से निवेदन करा राम जी का भी यही अनुभव था तीसरे दिन लक्ष्मण प्रिंसिपल अपनाना पड़ा जहां थोड़ा सा क्रोध करा और धनुष्मान उठाया तब एकदम जो है वहां समुद्र जैसा प्रकट हो गए इन्होंने बहुत सब निवेदन करा प्रार्थना करी अब क्या होना है यार इतनी सारी चिड़िया घूमती रहती चोचो चोचो करती रहती समुद्र देवता वो सबके अंडे ढूंढे जागे तो कुछ नहीं हुआ थोड़ी देर बाद उसने बोला देखो भाई समुद्र देवता आखिरी बार बोल रहे हैं आपसे हमारे अंडे कायदे से वापस लाए जाए नहीं तो <laughs> बोले क्या होगा नहीं तो भाई समुद्र देवता ने थोड़ा सा ध्यान दिया बोला अच्छे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो टिटीरी छोटी सी खड़ी हुई और हमको बोले नहीं तो फिर एक लहर आई कस के जैसे पूछ रही नहीं तो तो क्या तो बोला हम आपको सुखा देंगे बोला अच्छा टिटेरी समुद्र को सुखा देंगे बोला हाँ देखो हम बताए देते हैं आपको मत बोलना कि हमने आपको वार्न नहीं करा था पहले है? हाँ? तो वो जो है कुछ नहीं हुआ बोलते खड़े रहे गिनना चालू करा one two three four five six ten नहीं हुआ ना अब लो अब वो गई टिटीरी समुद्र में एक चोच पानी हम्म, एक बूंद उसमें भरा और जाके दूसरी जगह डाल के आ गए फिर एक चोच में थोड़ा एक बूंद पानी भरा फिर जाके डाल आई हम्म, बोला पागल है सब दूसरी टिटेरी दूसरी चिड़िया और सीगल्स और वो सब जो समुद्र के आसपास होते हैं वो सब होती पगला गई है समुद्र सुखारी अपने चोंच में एक एक बूंद पानी डाल लेकिन उसको ना कोई चिंता न दुनिया बोल रही है न चिड़िया बोल रही है कोई चिंता नहीं है और वो लगी रही वहां पे समुद्र को दिन हो गया रौद हो गया सुखाने में लगी हुई है संयोग वशात वहां से गरुड़ जी निकल रहे थे कहीं वापस आके भगवान विष्णु के वाहन उनको छोड़ के कहीं जा रहे थे उन्होंने देखा भाई पक्षियों के राजा हैं हमारे कोई पक्षी ऐसा कुछ बड़ा डटा हुआ है काम करने के लिए नीचे गए बोला क्या हो गया भाई तो उन्होंने प्रणाम करा गरुड़ राज जी को और बोला महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया है वो हमारे एम ले गई हमने उसको बड़े शांति से प्रेम से समझा दिया था प्रार्थना कर ली निवेदन कर लिया दे नहीं ने तो फिर हमने सोचा कि बस अब तो साम दाम दंड भेद अंतिम नीति यही है कि उनको दंड देना चाहिए और हम समुद्र सुखा दें वो वहां से वो भी मने मन बोलते हैं कि नहीं अच्छा ऐसा करो तुम मत करो हम कुछ करते हैं सोचते हैं हम्म? तुम थोड़ी देर शांति से बैठो उसको गरुड़ देवता ने आश्वासन दिया बैठाया और वो गए समुद्र देवता का उनका कनेक्शन रहता है भाई देवताओं का है? हाँ? तो देवताओं का समुद्र देवता से मिले जाके बोला प्रभु डोड़ दो अंडे बोला क्या मजाक करते हो हम टिटीरी के यहाँ पे अनंत कोटि यहाँ पे जानवर है पशु है अंडे है सब हम वहाँ टिटीरी के अंडे कहाँ ढूंढे जाके बोलते हमको पता है गलत बोल रही है लेकिन हमारी विशेष प्रार्थना है जो आदमी दृढ़ व्रति होता है देवता लोग भी उसी की मदद करते हैं संकल्प करो चाहो सपना देखो निश्चय करो उसके बाद देखो भगवान गीता में बोल रहे हैं उपनिषदों में वेदों में कहानी आ रही है अंडे लाए गए समुद्र देवता हाथ में अंडे लेके निकले बोला माता जी क्षमा करो चलो क्या याद करो कि किससे पाला पड़ा है छोड़ दिया आपको भी हमने अगली बार मत करना ऐसा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं सुखा के रहेंगे सब लोग हंसे और वह निकल आए लेकिन जो व्यक्ति ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होता है वही जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है अंग्रेजी में भी एक कहावत हमने सुनी थी god help those who help से आप अपनी मदद करो दृढ़ निश्चय रखो कोई भी आप जीवन में कार्य कर सकते महान लक्ष्य सो सपना देखना सीखो प्रार्थना अच्छे करना सीखो इस समय आज आपको जागृत अवस्था में इस जीवन में नहीं प्राप्त है कोई चिंता नहीं करो श्री गणेश यहां से करो महान सपना देखो कम से कम सपना तो क्लास का देखो ना एक शिव जी की पूजन है शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है उसका नाम है शिव माइनस पूजा बोले तो कभी कभार भाई देखो यात्रा वात्रा में नहीं पूजा कर पाए तो तुमको एक शॉर्टकट बताते हैं पूजा तुम्हारे तब भी नियम चलता रहेगा वो शिव मानस पूजा होती है तो उन्होंने पांच श्लोक लिखे बड़े सुंदर श्लोक हैं और वो आप जो है याद कर लीजिए और मन ही मन पूरी पूजा कर सकते हैं और बड़ी महिमा है उसकी देखिए जितने सूक्ष्म धरातल पे आपकी साधना होती जाती है उतना फल उसका बढ़ता जाता है क्योंकि हम लोग मन के धरातल पे थोड़ी देर शांति से बैठ के नाम जप और ध्यान वो भी नहीं कर पाते हैं इसीलिए प्रारंभ कराया जाता है कि आप शुरुआत करो पूजा से बाहर थोड़ी देर प्रेम से बैठना सीखो फिर उसके उपरांत नाम जप करने लगोगे फिर ध्यान करने लगोगे फिर आंख बंद करके भगवान के दर्शन भी होने लगेंगे तो थोड़ी सी सूक्ष्म जरूर होती है मानस पूजा लेकिन मानस पूजा में पूरी की पूरी पूजा आप मनी मन कर सकते हो और वहां पे बड़ी सुंदर चीज ये बताते हैं बोलते हैं देखो भाई सामान्य घर में पूजा कर रहे हो तो हम समझते हैं कि वहां पे तुम सिंहासन किस चीज का लाओगे है? कपड़े कौन से भगवान को पहनाओगे किस चीज का नैवेद्य चढ़ाओगे हर व्यक्ति की सीमा है बाद में आभूषण चढ़ाओगे ये सब चीजों की तो सीमा है घर में जो भी अपने चिरौंजी दाना वगैरह प्रसाद भी चढ़ा दिया और चने चढ़ा दिए भगवान आगे और दे देना तो और चढ़ाएंगे इस समय तो इतने ही है प्रभु बोलते हैं चलो ठीक है लेकिन यार मानस पूजा जब कर रहे हो तो वहां पे तो कंजूसी मत करना है? हाँ। मानस पूजा में अपना स्टैंडर्ड दिखाना मानस पूजा में भगवान का आसन जो है सोने और हीरों से जड़ित तो होना चाहिए मानस पूजा में जो भगवान को तुम कपड़े अर्पण करो तो बेस्ट आजकल क्या चल रहा है हम लोगों को तो पता नहीं है ज्यादा सिल्क विल्क जो भी हो बनारस का सिल्क आजकल तो बनारस काफी न्यूज में है तो वो सब जहां जहां का हो सकता है सब बढ़िया सिल्क हो और आभूषण छोटे मोटे है तो फिर तो तुम्हारी बदकिस्मती है छोटे पने की कंगाली सपने में भी अच्छे तुम आभूषण नहीं चढ़ा पाए ऐसे सुंदर आभूषण चढ़ाना छप्पन भोग से कम तो लगाने नहीं और ऐसा जो है वहां पे गीत संगीत में भी भीमसेन जोशी को बुलाना यार जो कौन है ऐसे भक्त भगवान को करवा रहे हैं तो अगर वहां पे मानस पूजा में तुमने स्टैंडर्ड दिखाया सोच बड़ी होने का परिचय दिया तो जीवन में कभी चांस है कि तुम ये सब प्राप्त करो सपने की बहुत महिमा है संकल्प की महिमा है सोच की महिमा किस्मत बनाती है तो यहां पर हम लोगों को प्रारंभ करते हैं कि हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं बहुत विनम्रता से स्मरण करते हैं ये हमारे मन के अंदर सुंदर भाव जगाना ये क्रांति लाते हैं आपके जीवन में बड़ी भक्ति से बड़ी धन्यता से अहोभाग्य से यद्यपि आपके जीवन में बहुत कुछ मिला है लेकिन सब ईश्वर की कृपा से मिला है हनुमान जी का यही चरित्र स्मरण करते हुए सब कुछ लंका जीत के आए लेकिन कैसे विनम्रता थी भगवान हमने क्या करा सब ऐसी विनम्रता से स्मरण करो और उसके उपरांत प्रार्थना क्या करनी चाहिए बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव बहुत सुंदर चीज है जितनी बार आप सोचो अगर ये वाक्य अपने हृदय में बैठा लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके पुण्य फलित हो जाएंगे देखो भगवान ने हम लोगों को मांगने का मौका दिया हुआ है मनुष्य जो भी चाहे मांग सकता है बाकी सब लोगों का जीवन प्रोग्राम्ड है दूसरा नहीं कुछ कर सकता है हम लोग सपना देख सकते हैं संकल्प कर सकते हैं आगे कुछ भी परिवर्तन करने का सोच सकते हैं यही जो है परिणाम है कि मनुष्य चंद्रमा तक और हम लोगों का एक मंगलयान मंगल ग्रह की तरफ तेजी से दौड़ रहा है अगस्त सितंबर के आसपास मंगलयान मंगल ग्रह तक तो पहुंचेगा आधी रास्ता पूरा हो चुका है किसी ने क्या सोच रखी भारतीय वैज्ञानिकों को नमन है कि दो साल के उन्होंने प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी सोच रख के भेज भी दिया कैसी सुंदर जो है सोच है उदात्त सोच है महान सोच है तो यहां पर हम लोगों को मांगने की स्वतंत्रता होती है लेकिन क्या मांगना चाहिए देखिए हम लोग भी कितने तीर्थ में जाते हैं पूजा करते हैं मंदिरों में जाते हैं क्या मांगते हो भैया हम लोग मांगते हैं कि भगवान घर में सब सुख शांति हो हम्म, इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए हमारी नौकरी धंधा अच्छा हो जाए रिश्ते नाते पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता इन लोगों का भी जीवन अच्छा हो जाए और हमारी पत्नी भी ठीक हो जाए हमारे पत्नी बोलती है पति के अकल आ जाए और फलानी हमारी सास तो महाराज जी ठीक हो जाए वो बहुत ही रगड़ा करती रहती है अब हम लोग ये हम सारी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं ना ये सब चीजें आप मांगते तो हो और देखिए जितने मंदिर है ना ये ध्यान देना सब मंदिर में भगवान मुस्कुराते हुए खड़े होते बोलते यार क्या मांगा है <laughs> ऐसी चीज मांगी कि बार बार ये आता रहेगा और अभी बचपना है उसका जान नहीं रहा है तो भगवान आखिरी चीज है उसके बाद तो हमको मांगने ही नहीं है कुछ ये बस अंतिम इच्छा है प्रभु इतनी मनोकामना पूर्ण कर दो तो हम तो गंगा नहा के आएंगे उसके बाद सब इच्छा पूरी हो जाएगी भगवान बोलते यार मांगने की अकल तो रखो ऐसी चीज मांग रहे हो और ये बोल रहे हो कि अंतिम चीज चाहिए थोड़े दिन बाद आते हो बेशर्मी से ये भी नहीं बोलते भगवान पिछली बार अंतिम बोला था क्षमा करिएगा एक चीज बची रहेगी ये भी नहीं बोलते फिर दोबारा तीसरी चीज मांगी तीसरी चीज मांगी भगवान बोलते ठीक है बेटा मांगना क्या चाहिए मांगना बाहर की चीजें नहीं चाहिए ये बुद्धिमत्ता नहीं होती है आप देखिए चलो धन मांग लो कोई बात नहीं भगवान दे देंगे तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही यार एक बार मुस्करा के देखेंगे लॉटरी खुल जाएगी तुम्हारी हाँ? वही विद्यमान है उनको इशारा मात्र करेंगे ठीक है हमारा भगत है एक बार मुस्करा दो बस लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया तो फूल बरसने लगे आकाश से जीवन में भारे न्यारे हो गए वो क्या करेगा फिर खर्चा होके फिर कंगाली फिर वही मुसीबत क्यों मानते हैं हम कोई चीज क्योंकि इस समय हमारे अंदर कमजोरी है देखो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो आप जब भी अनेकों चीजें मांगते हैं उस मांगने के पीछे हमारे मन के अंदर जो कुछ कमी है हमको ऐसी कल्पना होती है कि बाहर की इन संसाधनों से धन दौलत से हम पूर्ण हो जाएंगे हमारा प्याला भर जाएगा ऐसा मन के अंदर धारणा होती है तभी तो मांगते हैं ना सीधी सी बात है लेकिन अपने जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि बाहर की कुछ भी चीजें प्राप्त हो जाए उससे हमारे अंदर बल नहीं होता देखो अगर ये होता कोई लखपति करोड़पति आदमी तो पूर्ण हो जाता ना अंबानी बंधु बनने के बाद भी आपस में झगड़ते रहते हैं पूर्ण हो गए क्या कोई शहनशाह होता है एक तो संस्कृत का श्लोक आता है आपको पता है कि देवताओं का राजा इंद्र देवता है कितने संपन्न है यहां लोकल राजा का आप ऐश्वर्य देखना हो तो महल वहल किसी पुराने किले में जाके देखो आगे चकाचौंध रह जाते हो देवताओं के राजा इंद्र कितने सुरक्षित होते होंगे इंद्र देवता कितने पूर्ण हो गए हैं कितने सुरक्षित हैं इसकी असलियत तो तब पता चलती है जिस समय निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ कोई कर चुका है सौ जहां कर लेता है तो उसको इंद्र देवता की गद्दी मिल जाती है इस समय हमारे कितने इंद्र देवताओं की धड़कन बढ़ रही होगी इलेक्शन आ गए गद्दी जाने वाली है सामने दिखाई पड़ रहा है अनेकों लोग तो जो है कांग्रेसी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं बोलते नहीं नहीं हमारा उम्र हो गई है पेट में दर्द हो रहा है तबीयत खराब हो रही है हमारी उनको पता है खत्म हो जाने वाली गाड़ी सब कहानी खत्म होने वाली दुर्गति कितनी दर्द गड़बड़ करोगे आप तुम लोग इंद्र देवता को जहां पता भी लगता है कि किसी ने निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ कर लिए सब ऐश्वर्य प्रसिद्धि महिमा सबकी सब धरी की धरी रह जाती है और मन के अंदर डर सताने लगता है चिंता होने लगती है तिगड़म करते हैं नारद जी अगर ध्यान करने लगे तो इंद्र देवता को चिंता होने लगती यार ज्यादा पुण्य ले लेगा फिर तो ज्यादा हमारी गद्दी गड़बड़ जाएगी जाओ कम काम कम देवता काम देवता जाओ जाओ उसकी समाधि भंग करो पुण्य मत अर्जित होने दो उसका उनको भी देखो असुरक्षा होती है डर लगता है कमजोरी होती है मनुष्य जिस समय धन दौलत अनेकों नाम शोहरत भोग विलास प्राप्त करता है ये सब चीजें आप जो चाहो प्राप्त कर लो कोई चिंता नहीं लेकिन विवेकी बनो ये सब चीजें प्राप्त करने के पीछे मूल रूप से आप पूर्ण होना चाहते हैं आप कृतार्थ होना चाहते हैं बलवान होना चाहते हैं यही तो होना चाहते हो ना इसका ध्यान रखो यही हनुमान चालीसा बोल रही है यार तुम जिस दिन बलवान हो गए तो सब चीजें तुम्हारे पास हो गई हमारे अनेकों साधु संत होते हैं कुछ नहीं है उनके पास अगले समय खाने का भी नहीं लेकिन जहां चले जाते हैं और उन लोगों को क्या बोला जाता है आइए पधारो महाराज कहां के महाराज है हमको अगले समय का भोजन भी नहीं पता कहां से आएगा अरे महाराज धन्य है आपका बल हम अनेकों चीजों पे आश्रित होते हैं तब हम सुखी होते हैं उसी को हम बलवान समझते हैं जो व्यक्ति को किसी चीज पे आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ रही वो बलवान है कि वो बलवान है कि ज्यादा आश्रित है अनेकों चीजों पे और फिर उसके बाद तुलना करते हैं देखो हम तो आश्रित हैं हाँ, एक लकड़ी के ऊपर हमारी छड़ी बांस की है और हमारी छड़ी ये तो एल्यूमिनियम की छड़ी है हमारी छड़ी तो लोहे की बनी हुई है और तुम्हारी छड़ी अरे यार लंगड़ू अभी तुम लंगड़े हो अनेकों चीजों का आश्रय है चल पा नहीं रहे हो अनेकों चीजों पे डिपेंड हो रहे हो इस बात को रियलाइज करो इसको ध्यान दो इसमें गर्व मत करो कि हमारे पास देखो क्या कुछ जमा हो गया है कभी ये सोचते हो कि अगर भगवान न करे कोई भी ऐसा परिस्थिति आए परिवर्तन हो जाए जो जो जिन चीजों पे हम आश्रित हैं वो चीजें चली जाएं तो क्या हम झेल पाएंगे उसको तब पता लगता है हम कितने कमजोर आदमी अविवेक में ना समझी में ये बस अंधी दौड़ में लगा रहता है कि संग्रह करो और ले लो और ले लो और ले लो और ले लो अरे भैया ले लो तुम लेकिन तुम थोड़ा विचार करो क्या ज्यादा जो है संग्रह में तृप्ति होती है कि संग्रह तुमको अपने अंदर बलवान बनाने के लिए एक अविवेक पूर्ण तरीका है सोचो जरा क्या मांगना चाहिए ये विचार लो फिर जो चाहो मांग लेना इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख लो कि तुमको यहां पे जो चीजें भी चाहिए वो अंततः तुम बलवान होना चाहते हो पूर्ण होना चाहते हो समझदार होना चाहते हो हनुमान चालीसा में इस प्रार्थना से कम हम लोग सोचते भी नहीं भगवान से केवल यही मांगो प्रभु बल बुद्धि विद्या देहु मोहे अंततः हम बलवान हो जाए हम समर्थ हो जाए हम भगवान सोचे बैठे इस मोह से युक्त हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो हम बहुत ही पूर्ण हो जाएंगे जहां आंख खोल के देखी तो जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया देखो ये सब चीजें तुमको आग में हाथ डालने के बाद सीखना पड़ता है क्या जलती है सदैव तुमको देखना पड़ता है स्वामी जी एक बार हम भी डाल लेते हैं आग में हाँ। फिर तो कल बोलोगे महाराज जी ये जहर है कि नहीं है जरा टेस्ट करके तो देख ले हाँ। बोलते जिंदा भी रह पाओगे प्रभु कुछ चीजें सीखो दूसरों से दूसरों के अनुभव से सीखना ही शिक्षा व्यवस्था का प्रयोजन होता है अनेकों चीजें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सीखी है जीवन में शोध करा है चिंतन करा है और उससे हम लोग लाभान्वित होते हैं इसीलिए सब चीजें आपको खुद हाथ डालने की जरूरत नहीं है अनेकों चीजें देख भी लो लेकिन हमको आंख खोल के दुनिया के अनुभव से सीखना चाहिए कितने सारे लोग कितनी सारी चीजें प्राप्त करते क्या वही करना चाहिए कि तृप्त होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए मस्त होना चाहिए धन्य होना चाहिए जैसे हमारे हनुमान जी हैं जैसे हमारे राम जी हैं है? कहीं पर भी हैं वहीं पे उनके योद्धा है वहीं पे आनंद है ऐसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो बल प्राप्त कर लो जीवन के उतार चढ़ाव आ रहे हैं कोई चिंता नहीं हो रही ऐसे बलवान बनो यार ऐसे समर्थ बनो जहां रहो आशीर्वाद बनो छोटी सोच के वजह से आश्रित बने रहते हो हाँ? भगवान अब वो भी दे दो ठीक है यार बचपना तुम्हारा कब खत्म होगा एक बाबा जी थे सबको जो है ना बच्चा बच्चा बोलते थे कोई वृद्ध भी आते थे तो वो आओ बच्चा हमने बार पूछा बाबा जी ये तो बड़ा है वृद्ध है दादाजी हैं ये तो किसी के नाना जी और आप इसको बच्चा बोलते हो बोलते हैं अरे भैया ऊपर से बाल सफेद हो गए हैं अंदर से बचपना नहीं गया है इसका हम बोला कैसे नहीं गया बोलते तो बचपन से अभी बाहर किसी चीजों पे आश्रित हो रहा है अभी तक नहीं सीखा है कि बाहर की चीजों पे आश्रित होने से कोई सुख नहीं मिलता है बल्कि हमारी रामायण आदि बताती है कि पराधीन सपने हूं सुख नहीं या सपने में भी नहीं सुख होता है तो वही मांग रहे हो भगवान इसके ऊपर और आश्रित हो जाए आप ऐसा व्यक्तित्व तो बनाओ कि लोग सोचें तुम पे आश्रित हो तुम्हारा साथ मिल जाए तुम्हारा सहयोग मिल जाए तुम्हारे साथ संबंध हो जाए ऐसी सोच रखो इतने बलवान बनो और निश्चित रूप से समझो अगर तुमने ऐसी प्रार्थना करनी प्रारंभ करी भगवान बोलते हैं अब यार कोई बुद्धिमान आया और ऐसे व्यक्ति जब उन बाबा जी के पास जाएंगे तो उसको बच्चा नहीं बोलेंगे आओ बच्चा बड़ा अब बड़ा हो गया आओ बड़ा बच्चा अब आओ अब बचपना खत्म हुआ तुम्हारा सदैव बच्चों की तरह मांगते रहते हो बाहर की चीजें जो व्यक्ति ये मांगने लगता है कि प्रभु हमको बलवान कर दीजिए मैं आज हम आपके अंश हैं आपके भक्त हैं रावण भी हनुमान जी से पूछता है यार किससे बल मिल रहा है तुमको अकेले चले आए हमारी दुर्ग में घुस के हमारे नानी हाथ दिला दी सबको किसका बल तुमको मिल रहा है कौन है तुम्हारे पीछे क्योंकि हमको कल्पना भी नहीं होती है कि किसी कोई पीछे नहीं होगा और तो भी जो है वहां हाँ, निकल रही हो जलगांव में स्वामी जी आज ज्ञान यज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं कल से ज्ञान यज्ञ है वहां पे तो इस तरीके से ये यहाँ पे हनुमान चालीसा में जो जन जन पढ़ते हैं उसमें गोस्वामी जी बोलते हैं कि भाई ध्यान करो शांति से निरभिमानता से हनुमान जी का स्मरण करना और आगे ये दिव्य पाठ करना लेकिन क्या मांगना है वो पहले ध्यान रखो और संकल्प जरूर करो संकल्प पूर्वक ही सब काम होने चाहिए बगैर संकल्प के काम पूजा भी पूरी नहीं होती है यज्ञ पूरा नहीं होता है भजन पूरा नहीं होता है जरूर संकल्प करना है हाथ में लेके ना अक्षत वक्षत फूल पूजा के पहले भी करवाते हैं ना शुभ ने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मण द्वितीय पराधे श्वेत वराह कल्पे वस्तु मंत्र आदि आदि आदि संकल्प करते भगवान ये प्रार्थना है ये इच्छा है आपके चरणों में अर्पण है ये हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जरूर मांगना चाहिए लेकिन क्या मांगना चाहिए ये थोड़ी है कि मैंने हमको मांगना नहीं है क्यों नहीं मांगना ज्यादा तुम ज्ञानी हो गए क्या नहीं ज्ञानी तो भी नहीं हुआ तो ज्ञान मांगो यार भजन मांगो अकल मांगो बल मांगो बल बुद्धि विद्या देहु हर हो कलेश विकार ये मांगने की चीज है बगैर तुम्हारे संकल्प के बगैर प्रार्थना के बगैर कमर कस के इन चीजों में आगे बढ़ने के ये नहीं प्राप्त हुआ करता है जिसने भी जीवन में ज्ञान प्राप्त करा बल प्राप्त करा बुद्धि प्राप्त करी उसने प्रार्थना करी थी मेहनत करी थी बारंबार इस चीज में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करा था सब क्लेश को मिटाने के लिए उसने निवेदन करा था अपने गुरुदेव से अपने संतों से ये मांगनी चीज है तो यही चीज मांगो कि भगवान हम कमजोर हैं ये हम देख रहे हैं और अगर देखोगे नहीं तो मांगोगे नहीं अगर अभिमान में रहोगे बड़ी हवा में रहोगे नहीं नहीं नहीं अंदर सब ठीक है अच्छा तो शनि देवता जी बोलते आए नहीं नहीं महाराज जी आप दूर ही रहो दूर ही अच्छे कोई चीज तो दूर ही अच्छी रहती है जैसे हमारे गोस्वामी जी बोलते हैं ना हम सब जो है वह संतों को और दुष्टों को प्रणाम करते हैं हम्म? उनको नमस्कार करते हैं महाराज जी संत लोग आपका तो आशीर्वाद बना रहे और दुष्टों को करते हैं आप कृपया दूरी बने रहो हम्म? आपका साथ हमको न मिले आप प्रसन्न रहना हमारे पास विजिट मत करना यही कृपा करते रहना उनको भी प्रणाम करना जो भी ऐसी मन की कमियां होती हैं इसको समझो आइडेंटिफाई करो सुनिश्चय करो और यही प्रार्थना करो भगवान ये यथार्थ है कि हम कमजोर हैं जो भी आश्रित व्यक्ति होता है कमजोर होता है किसी के ऊपर भी हम आश्रित हैं धन पे आश्रित हैं सच्चाई है कि कमजोरी है अगर ऐसा कुछ हो गया तो कहां पे जाएंगे घर बार रिश्ते नाते नाम शोरत अनेकों बार देखो देश का बंटवारा हो गया था जो लोग थे बड़े बड़े जमींदार धन दौलत सब कुछ एक झटके में खत्म हो था अभी वहां पे यूक्रेन में हो रहा है ना हाँ, यूक्रेन में क्रीमिया नाम की जगह है रशिया के पास मिली हुई काफी महत्वपूर्ण डिफेंस के दृष्टिकोण से जगह वहां के लोगों ने बोला रूस में जाएंगे और फटाफट देश का बंटवारा हो झटके में हो जाता है पता ही नहीं चलता है भगवान ना करे एक दिन बैठे बैठा है एक क्षण में सब हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती आश्रित हो गए तो जरूर दुखी हो गए और जो बलवान होता है वो जहां पर भी रहता है बोलते हैं कोई बात नहीं हम तो हैं इस हम ने ही तो सब बनाया था दोबारा बन जाएगा अगर जरूरत होगी नहीं जरूरत होगी नहीं बनाएंगे लेकिन बलवान के व्यक्ति के अंदर कभी कोई चिंता नहीं होती सब देवता भी होते हैं ना जो उतार चढ़ाव लाते हैं उनका धर्म है उनको करना ही पड़ता है वो ये थोड़ी है कि शनि देवता बोलते हैं चलो इस पर दया दो शनि देवता की ड्यूटी से निकाल दिए जाएंगे वो वो जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं हर व्यक्ति को कुछ समय बाद साढ़े सात साल की उनको कुछ विशिष्ट अनुभूति दिलाना पड़ता है कोई स्वतंत्रता नहीं है भगवान बोले क्यों शनि देवता इसको छोड़ दिया हाँ महाराज जी इसने बड़ा तेल चढ़ाया था इसने हमारे वहां पे जो है वो काला पत्थर लगा के उसने ये भी मालिश करी थी और ऐसा भी करा था लड्डू भी चढ़ाए थे छोड़ अपना ही बंदा है महाराज अपने ही शनि देवता अगर ऐसे करे ना शनि देवता की नौकरी चली जाए नहीं कर सकते वो उनको लाना ही पड़ता है लेकिन अगर आप शनि देवता के भक्त होंगे भक्ति की महिमा क्या होती है देखो भैया हमारे गुरुदेव हमारा कान पकड़ते हैं तो हम आशीर्वाद समझ लेते हैं कोई और पकड़े तो देखो हम क्या बताते हैं उसको हम्म? वहां थोड़ी आशीर्वाद देखते हैं वहां पर आदमी के मन के अंदर वो आपत्ति समझ में आती है अनुचित समझ में आता है जहां पे आपकी श्रद्धा है आप कोई भी चीजें प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं इसीलिए शनि देवता का पूजन भी करो लेकिन ये मत समझो कि ये ये पता नहीं कहा मोह आ गया है लोग कैसे सत्संग से दूर हो गए कि शनि देवता और बाकी राहु देवता केतु ये हमारा वो महाराज जी थोड़ा जुगाड़ कर लेना ये टेबल के नीचे से थोड़ा सा ये आपके लिए बच्चों के लिए प्रसाद के साथ मिठाई मिठाई आप तो सब ठीक है महाराज जी ये तो आप सोचते हो कि ऐसा करते हैं यमराज जी आए आपके वहां पे कभी भगवान ना करें वृद्धों के पास तो आए हैं हर घर की कहानी है कुछ कर सकते हो क्या ये देवता लोग ना खरीदे जाते हैं ना प्रभावित करे जाते हैं इनका धर्म है जीवन के उतार चढ़ाव देना और ये ईश्वर के निमित्त है सेवक लोग हैं और ईश्वर का विधान है कि सदैव बाहर की चीजें में आवागमन होएगा बस तुमको एक बहुत बड़ी चीज सीखनी है भैया वो ये है कि राम जी पे आश्रित तो हो न कि ये काम जी पे आश्रित तो हो है? ये तुम पाठ कब सीखोगे भाई जो तुम्हारे हृदय में राम जी बसते हैं उन पे किस दिन भरोसा करोगे सब कुछ फकीरी से उन पे आश्रित जो देते हैं उनकी कृपा है जो ले जाते हैं चलो प्रभु कोई भी वो अच्छा ही होगा पता नहीं आपने अगर कुछ करा है तो हम ये नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे लेकिन हम स्वीकार करेंगे जो भी हमारे पुरुषार्थ के बाद फल आएगा अंततः आपका ही प्रसाद होता है बल की प्रार्थना करनी चाहिए और जो बल की प्रार्थना तभी होती है जिस समय आदमी की बुद्धि अच्छी होती है हम्म? बल बुद्धि क्यों नहीं सब लोग यार बल की प्रार्थना करते हैं आत्म बल की प्रार्थना वो पहलवानों वाले बल की नहीं दंड फेल रहे हो हाँ अच्छी तरह बादाम खा रहे हो और घी का हलवा खा रहे हो महाराज जी बल बुद्धि विद्या देवी नहीं वो भी बल अच्छा है यार कम से कम शरीर बलवान होगा तो आस आस पास आती जाती सर्दियां और बीमारी आपको विजिट नहीं करेंगी जिसका शरीर कमजोर होता है ना कोई भी बीमारी निकलते हुए आपके घर में अतिथि बन के आएगी रहेगी थोड़े इसीलिए शरीर को बड़ा हृष्ट पुष्ट रखो स्वस्थ रखो है? हाँ? ये आत्मबल की प्रक्रिया का पहला कदम होता है और ये हम लोग हनुमान जी से सीखते भी है ना सभी बोलते हैं यार बॉडी बिल्डर हो तो हमारे हनुमान जी जैसा हाँ? शरीर हो तो हनुमान जी जैसा जय बजरंग बली अब अखाड़ों में भी देखो वहां फोटो किसकी लगी रहती है बजरंग बली हाँ? जय बजरंग बली जाके सब पहलवान लोग उन्हीं का नाम लेके शुरुआत करते हैं बल की प्राप्ति के लिए लेकिन हम लोगों का जो व्यक्तित्व तो है वो केवल इस शरीर तक सीमित तो है नहीं शरीर आपका बलवान हो जाए ये बहुत अच्छी बात है सवेरे उठो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को शरीर के लिए घंटा भर देना ही चाहिए ये मंदिर है इस मंदिर में भगवान रहते हैं हृदय के अंदर भगवान का गर्भगृह होता है वो हम लोगों का जो हृदय है वही भगवान का वास होता है इसीलिए अगर जो आपने शरीर को मंदिर जैसा नहीं बनाया शुद्ध करो नहाओ तीर्थ में जाओ नर्मदा मैया में स्नान करो गंगा मैया में करो हाँ, नहा धो के अच्छी तरह शुद्ध होके इसको जो है वह टीका लगाते हो पूजा करते हैं जिस समय पूजा होती है ना तो पहले देह पूजा होती है सबसे पहले देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवस्नातन देह देवालय प्रोक्ता देह को देवालय देखना चाहिए ऐसे उसको देखो स्वस्थ रखो और हम लोग को सब लोग बताते हैं मनीषी लोग बताते हैं जरूर शरीर को जो है स्वस्थ बनाने के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए योगासन अब तो पहले के जमाने में यार हो जाता था आजकल इतनी आधुनिकीकरण में वो सहज रूप से नहीं होता इसीलिए अलग से जरूर करना चाहिए पहले तो सवेरे उठे तो आदमी को लोटा लेके भी थोड़ा वॉक करने जाना पड़ता था अभी क्या है बाथरूम है महाराज जी अटैच लैट बात है हमारा दरवाजा खोला निपट के आ गए वो भी वॉक खत्म हम्म। अब पहले के समय भाई कुछ कपड़े वपड़े धो लेते थे वो एक्सरसाइज होती थी हमारी दादी जी थी ऐसा जोरदार उनका हाथ था कई बार कोई लपड़ पड़ जाए किसी के तो उसके दांत गिर जाए ऐसी बलवान थी चक्की चलाती थी अनेकों चीजें जो है गाय का दूध धोती थी पूरा जो है वह चौका करती थी पोछा करती थी खूब मेहनत करती ऐसे बलवान होते थे लेकिन अब आजकल आधुनिकीकरण हो गया है पता लगा हाँ जी वॉशिंग मशीन आ गई बोला अच्छा भाई अब वॉशिंग मशीन आ गई है और अटैच लाइट बात हो गया है और अब यहां पर आने के लिए लिफ्ट लग गई हमारा जी अब लिफ्ट लग गई सीढ़ी की जरूरत नहीं अब यहां पे देखो वेदांत आश्रम में हमारे जरूरी है वेदांत वेदांत आश्रम में वेदांती लोग आते हैं वेदांती समझते हो ना जिसके दांत गिर जाते हैं वो वेदांती हाँ। वृद्ध लोग अब बाकी अनेकों संसार में लगे हुए समय नहीं था भगवान के भजन और ज्ञान का हमारी गीता ने क्या कहा हमारे रामायण ने क्या कहा हमारे हनुमान चालीसा में क्या कहा और वेदों में क्या कहा ये सब चीजों कहां समय मिलता है आजकल की आपदा थी तो जिस समय सब मुक्त हो गए रिटायर हो गए दांत भी गिर गए आ बाबा जी आ गए तो बोला आ जाओ बेटा आ जाओ जाओ अब चल नहीं पा रहे हो सुन नहीं पा रहे हो <laughs> बोलते हैं ये ज्ञान तो बुढ़ापे में लेना चाहिए आते वृद्ध लोग हैं लेकिन आप लोग जो है ना सत्संगी हो पुण्यात्मा बुढ़ापे के लिए छोड़ना मत भैया इसको नहीं तो गुरु जी बोलेंगे हाँ बेटा सुन रहे हो तो गुरु जी कुछ कहा आपने <laughs> न बुढ़ाते में सुनाई पड़ेगा न बुढ़ाते में दिखाई पड़ेगा न बुढ़ाते में तीरथ कर पाओगे न चल पाओगे उस बुढ़ाते के लिए हम भगवान का ज्ञान छोड़ा है हम्म, ऐसा कभी मत करना ज्ञान आपको यहाँ पे बलवान होके जीने के लिए तरीका दिखाता है तो पहले कोशिश कर डालो सत्संग करो बल बुद्धि विद्या देह मोही खूब बुद्धिमान बनने के लिए प्रार्थना करो अभी ये सब चीजों का हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे आपको अगली बार बताएंगे बुद्धि अच्छी करना बल अच्छी करना उसके लिए आपको थोड़ी और समझ चाहिए क्या करना चाहिए ये मांगना सीखो मांगने लगोगे भगवान दे देंगे वो भगवान ने ये अपना नियम रखा है भाई जो मांगेगा हम दे देंगे हमारे बच्चे हैं हमारी संतान है हमारी उत्पत्ति है आप जैसे अपने बाल बच्चों को जो चाहते हैं आप उनकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं मनोकामना पूर्ण करते हैं सब आपको यहां मिलेगा तो यहां पर हमको भी बहुत अच्छी तरह स्पष्टता होनी चाहिए कि बल मांगते हो क्या कौन सा बल मांगते हो कैसा बल मांगते हो बुद्धि चाहिए तो क्या कर दें हम्म? बुद्धि चाहिए क्या तुम्हारी खोपड़ी बड़ी कर दे क्या हाँ, वही होएगा जब वो जो पिक्चर कौन सी देखी थी एक हमने अमिताभ बच्चन के छोटा बच्चा था इतना बड़ा सर हो गया था अब उसके बच्चे का इतना बड़ा सर हो गया था और बारह तेरह साल की उम्र में ऐसा जो है वहां हो गया ऐसा चाहते हो क्या नहीं नहीं नहीं भाई वो वो नहीं वो नहीं वैसा नहीं चाहिए हमको तो बुद्धि चाहिए क्या मतलब यार बुद्धि चाहिए तो तुमको स्पष्ट होना चाहिए ना भगवान ने एक दो इंटरव्यू कर लिया तुम्हारा कि भाई तुम्हारा निवेदन आया है एप्लीकेशन फॉर्म वाइवा करें इंटरव्यू करें क्या बुद्धि से मतलब है बेटा तुमको हा? तो यार कुछ तो तैयारी रखो बुद्धि चाहिए तो क्या मतलब होता है बुद्धि चाहिए बल चाहिए तो कौन सी तुमको बल चाहिए छप्पन इंच का सीना वो तुम्हारे लिए बल है हाँ? वो तुमको चाहिए तो कम से कम मांगना तो सीखो ना इतना थोड़ी है भगवान बस आप निपट लेना बल बुद्धि विद्या देव मोहे आप समझ जाए आप समझदार हो महाराज हाँ? हाँ, समझ बोलते यार हमारी समझ का प्रश्न नहीं है तुम्हारी समझ का प्रश्न तुमको क्या चाहिए तुमको अति स्पष्ट होना चाहिए और बल और बुद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो अंततः विद्या प्राप्त होती है हम्म? तो ये सब चीजें प्रार्थना करो और उसमें एक मात बाधाएं होती है हरहु कलेश विकार क्लेश और विकार ये दो चीजें होती हैं मन की बाधाएं बहुत बड़ी समस्या होती है आपको पता है कितने प्रकार के क्लेश होते हैं कितने प्रकार के विकार होते हैं अब हनुमान चालीसा पढ़ते तो रहते हो कभी आपका इंटरव्यू ले लिया भगवान ने बोला ठीक है एप्लीकेशन आई कौन सा क्लेश दूर करें अरे महाराज जी कौन से क्लेश होते हैं क्लेश मतलब क्लेश क्लेश दूर कर दो पांच प्रकार के क्लेश होते हैं छह प्रकार के विकार होते तो ये अच्छी तरह समझ लो प्रार्थना जिस समय गोस्वामी जी जैसे संत हमारे हृदय में ये प्रश्न डाल देते हैं ये हमारे जो है वचन बना देते हैं प्रार्थना बना देते हैं बाकी ये हमारे ऊपर सोचने के लिए होता है कि ये सब क्लेश और सब विकार ही इंसान को संतप्त कर रहे हैं कोई आपको बाधा नहीं दे रहा है आपको पता है आपके हृदय के अंदर क्लेश है वो समस्या है विकार है वो पीड़ा वो रोग है समझ जाओ उसको गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन देखो बड़े प्रेम से भक्ति से कर्म करो कर्म को कर्म योग बना दो अर्जुन कर्म को ही यज्ञ बना देना अर्जुन यज्ञ जो है बड़ा पुण्य लाता है अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ बना देना वो बड़े जोश में आ गया बोला ठीक है भगवान विचार करते हैं श्री गणेश करते हैं कल से कर देते हैं लेकिन जहां उसने मनी मन सोचा एकदम उसके मन में प्रश्न आया बोलते भगवान पहले भी कई बार बड़े बड़े ख्याल सोचे बड़े विचार सोचे लेकिन एक और प्रॉब्लम है बोलते क्या प्रॉब्लम है भाई बोलते महाराज जी जब भी कोई ऐसा संकल्प लेते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि हमको वो आके फिसला देती हम टिक नहीं पाते कोई जैसे यहां पे हमारे विपरीत चीजें होती है अनेक बला पिवार्षणेय बलादिव नियोजिता अथ के न यम पापम चरति पुरुष प्रभु हम पाप करने लगते हैं सोचते हैं पुण्य का लेकिन अनजाने में हो जाते हैं अनेकों लोग पाप करते हैं सदैव पाप आदमी के आवेश में अज्ञान में मोह में हो जाते हैं भगवान हमारा संकल्प तो बड़ा अच्छा था बड़ी चाह अच्छी थी लेकिन भगवान पाप कर बैठे प्रभु बड़ा अच्छा मौका है इस समय आप हमको सब दुनिया के रहस्य बता रहे हैं ये भी निपट लेते हैं प्रभु आप बता दो कि किसके वजह से आदमी पाप करता है फिसल जाते हैं हम सोचते हैं संकल्प करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते वो गीता के अंदर तीसरे अध्याय में खोल के देख लेना कभी सबके घर में गीता हो है रामायण गीता तो नहीं है तो होनी चाहिए गीता भगवान कृष्ण का हृदय अगर फोटो रखते हो ना तो बगैर हृदय की फोटो नहीं होनी चाहिए निष्प्राण होती हो हृदय होता है भगवान की गीता प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के घर में गीता होनी चाहिए कभी भगवान न करे कोर्ट में जाओ तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओगे पहले घर में गीता को रख के जरा प्रेरणा प्राप्त करो गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ये बोलते हैं अर्जुन कोई तुमको बाहर की शक्तियां नहीं है जो फिसलाती है जिसके वजह से आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है पाप करता है वो उसके अंदर मन की कहानी होती है ये तुमको हम रहस्य रहे भगवान भी तुम्हारे हृदय में बसते हैं अर्जुन और अनेकों असुर लोग भी तुमने हृदय में पाल रखे उनको निपटना होता है वो क्लेश लाते हैं वो विकार लाते हैं अगर तुमको पता लग गया क्लेश क्या होते हैं विकार क्या होते हैं तो तुम सीधे जैसे कोई रोगी अपने रोग को फोकस्ड होकर एड्रेस कर सकता है स्पष्ट पता होना चाहिए तो हमारे अंदर कुछ क्लेश और विकार होते हैं उसके वजह से हम कमजोर होते हैं उसके वजह से मोहित होते हैं अज्ञानी होते हैं चंचल होते हैं अशांत होते हैं ये सब हमारे अंदर की बात है अब आजकल अंदर की बात शब्द बोल के भी हमको डर लगने लगा है अंदर की बात हम कहते हैं तो लोग सोचते हैं अंडरवियर का विज्ञापन बताएगा उन्होंने ऐसा उसको पॉपुलर कर दिया अंदर की बात है कि बड़ी मुसीबत हो गई हमको कुछ भी बात बोलना अब पहले लोग बोलते थे आप करिए अब आप शब्द बोलने में भी डर लगता है <laughs> हाँ। तो ऐसा समय के परिवर्तन से बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन ये हमारे सब हृदय में भगवान भी बसते हैं रिया अज्ञान मोह को राक्षस भी बसते हैं पूरी महाभारत का युद्ध मनुष्य के हृदय में चलता है यही पांडव हैं यही कौरव है और यही जो है भगवान होते हैं उनको अपने रथ का सारथी बना के तुम विजय श्री को प्राप्त कर सकते हो लेकिन क्या चीज मांगनी चाहिए बल बुद्धि विद्या देव मोही हरह कलेश विकार इस बार हम यहीं पर आपको छोड़ते हैं और अगली बार इसके ऊपर आप खुद मनन करके आना जरा क्लेश क्या होते हैं विकार क्या होते हैं बुद्धि कैसे आनी चाहिए विद्या कौन सी प्राप्त करनी चाहिए कौन सी डिग्री लेनी चाहिए और बल हमारा किस धरातल पे होना चाहिए ये सब चीजों पे आप चिंतन करो बहुत महत्वपूर्ण जिसने इसकी अच्छी तरह समझ प्राप्त कर ली वो ही हनुमान चालीसा का लाभ लेगा और अगर यही चीजों में अंधकार रहा स्पष्टता रही तो कितनी बार आप जो हो बोलते रहो उसका पूरा आशीर्वाद आपको मिल नहीं पाएगा भगवान बोले ठीक है हम देने को तैयार क्या चाहिए बताओ बल चाहिए कौन सा बल चाहिए जा जा दे बोलोगे स्वामी छप्पन इंच का सीना इतना हाँ, ही चाहिए यार ले तथा लेकिन असली बल तुम मिस आउट कर दो क्या बल क्या बुद्धि होती बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं हमने केवल अभी इन चीजों के बारे में इस बार जिज्ञासा उत्पन्न करवाई है महत्व तो इसका महिमा उत्पन्न करवाई है आपके मन में और आपके अंदर अगर इसका चिंतन होगा मनन होगा तब जाके हम जो भी बताएंगे और आपको आनंद आएगा इसीलिए आवश्यक है कि यहीं पे इस बार विश्राम करा जाए यहीं पे इस बार रुकते हैं और अगले महीने अंतिम सोमवार अगले महीने का अंतिम सोमवार सोमवार नहीं रविवार अगले महीने का अंतिम रविवार 27 अप्रैल को आ रहा है हम्म? तो 27 अप्रैल को शाम को इसी समय इसी जगह हम लोग इस चीज का चिंतन करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण छोड़ना मत है उस बार को और भी दो चार अपने प्रेमी लोग हों तो बुला लाना है ये वाला सुन लो आगे मत सुनना भले हाँ, इतना महत्वपूर्ण कम से कम अकल तो होना क्या मांगना है भगवान तो तैयार रहते हैं एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा चिन्ह मुद्रा के साथ कमल का फूल एक हाथ में सब तैयार रहते हैं तो मांगने की विद्या मांगने की अकल तो वो महत्वपूर्ण तो प्रवचन फिर हम का अगले महीने होगा अब प्रेम से सब लोग राम नाम संकीर्तन करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की नमः पार्वती पते हा